घेरे बोले हमारी भोजना सुने जे ने रे

सोत समझ अरे याद बामन द जान लगी ना गोट नए आज खेरे परण मांगा रे रानी जयमती ने अब खूब मजा आयुड़ी जान पाजी ने फरेगी मारे धारे साचा बताऊं होज ब्राह्मण जोशी શું કહે છે કે દેખે બ્રાહ્મણ અરે ભીરાજી ક્ષા તો ગાંવ રે હું ક્ષા ગાંવ થારો બસવો છે એ ભીરાજો તું લગન લેકર આવ્યો છે તો अच्छी तरह सोच समझ के ए ब्राह्मण जो लगन देर तू माना जाजी ભીરાજી યા સોળંગી સરદાર કી બેટી છે રાણી જેમતી નામ છે તો ભીરા अच्छी तरह सोच समझ कर तू माना लगन देर जाजी ने तो मां तो गुजर जा छा चोइस भाई की जोड़ बेटा बादन सा राजा भाग जी का ये वीरा जी घोड़ा का स्वाद ये आगे फिर वहां जो जार तू खेदे के भाई ये तो गुजर छे अरे वह राजा की बेटी छे भाई साहब देख बोलिया रसिया भोज के फिर बाकी माँ की चिड़ी जान फाची वापस घर में रीति नहीं लौटे देख रे बीरा जी फिर तो रहे सकराम हो जाओ पर परिणया बना तुम्हें कभी भी नहीं माना जियो को तो तू यही सोच समझ के लगन दे जा जी मैं चोईस बेटा पकड़ा जो गुजर बाजा था राजा बाहक जी हाँ राजा बाहक जी का जो पुत्र था બ્રાહ્મણ જોશી દેખ બોલ્યું કે રાજા ભોજી बाई साहब को यो કહેણો छे कि एक बाप का ચોઈસ भाई દી के वही लगन मारा तू देर आ जाइए या अपनी बात सुनताई और कहे देगा प्रेम से भोजी लगन झेल मंगला है वो यार हाँ लाखा की बठेरी बदाई मरीदा लाखा की बदाई बटरी छेरे रगी मारे दारित गावे ते शिवे लाने माधवाला की आन राम रे सचे जाना की लाखां की बटरी बदाज लगना लाखां की बटरी बदाज गर गर बटरी ने बदाज नहीं ये गावे गोजरा गीत गोठ बैठा जिला रे लगन याद जोशी से जिला

हाँ, बाप का छोयस वे मल्यार बाई जीरी लगे नहीं दिया ये खुशी रे मनाली छेरानी दश राम गोठ में तो बैठा जी छाय मारे दांत कहता तू मारे की छाय माता तो इस बेचारी गाट राय ये पतवाड़ा की आन मारे जोशी का जो लगन और टीका जो भंवर भोज में झेल लिया छे लाखा लाखा की जो बधाई बट गई छे घर घर शीला मंगला गीत गाया छे और लाखा लाखा की बधाई जो कोट में बटरी छे ए ना तो, तो रशिया भोज का जो लगन झेल लिया छे और गुजरिया घर घर मंगला छे हरकारी छे ब्राह्मण जोशी से देख बोला कि हे ब्राह्मण जाओ आपके ताई बद्या कर दिया छे लाख दो लाख रुपया जो ब्राह्मण के ताई दे और घर में ब्राह्मण के ताई पहुंचा दिया छे ब्राह्मण श्रीनाथ जाके और गडगादरा पहुंच गई आज के राजा ब्राजमान हो गया रानी जेमती ब्राजमान हो रही थी हाथ जोड़ के ब्राह्मण जोशी देख बोलियो कि भाई साहब रंगीली गोठ में मैं अरे जाकर पूछ गयो और चौसी भाई राजा बाग जी का मन मतलब बन गया छे रंगीली गोठ में आपका लगन पान बीड़ा देखे और भाई साहब में आ छो तो भी भाई साहब का भी मंगलाचार हो गया है और रंगीली गोठ में जो चौबीस बेटा पकड़ा होते जाजम थाल के चकिया बढ़ के नीचे और पासाहती दांत का जो खेलबा के वास्ते रह गया तो चौसी भाई ब्राजमान हो गया आधा कशुमल केस रिया आधा रंग सफेद तो बड़ा की सी क्यारी ब्राजमान चौसी बेटा उठाओ बैठा से तो कहे लगा बैठा बेटा कहे लगा कोई चौस बात को विचार करे छे Thank you. আজ ঘেরে বলে রসিয়া বোঝি শুনালে নে থয়ে নেওয়া એ માં ભાળી રમારી माझे रंगीली ये बेटिया सा सारा वीर मारे धार बेटिया चाहे सारा ये मत वाला की यार रे तुम्हारा ભાઈલો અબ છે ને રે રાણો રાવ હા જીને પરણા લાવા રાણી એ જે મતી રબીરા હો જાવે જમ્યા जला जा रे रण का रावण ये राखी बंद छे राम भाई लो अब राखी तो ये राणा को कर दिया ब्याह मारे नारे राणा

सनगार गोज की लूनम मणि सणगार वाले आज घेरे चाला गडराण में अभी बोलो छे ने वो हाँ लगन दिया हमारे रणखा ये रावण रमारी दा लगे दारू भी पिया वांगन गडेरा तो मर्दान जब पहर भोजी चोइस बेटा बगड़ाओ जो कोठम विराजमान हो रहा था चोइस ही बगड़ाओ देख बोला के देखो रे मर्दाओ अरे आपने जो આપણે आ गया छे अरे અરે बेटा બેટા પકડાવતા કાપ કશ્યપ કે રાણ્યા छे और जो મારી જો ચોવીસ तो પકડાવ તો માનો તો આપણો રાણોજી ભાઈલો છે હું ભાઈલાને ચાદરા પર ફલાના लावा या भंवर भोज ने बात सुनता ही नहीं वो सरदार देवी बोले के दादा भाई सभी का अच्छी बात मंजूर छे तो ये होत की तो आपने राणा जी नहीं प्राणा लावा जो राणो जी भी आप गुण माने और अपना पगड़ी पलटा यार दोस्त भाईला जा तो चोईसी भया का मन में यह बात आशा की ने इतने देख ನೀವು ಸರ್ದಾರ್ ದೇಗ್ರಿ ಬೋಲೋಗ ದೇಗ್ರಿ ಬಹರ್ಬೋದು ಏಕ ಪಾತುಡಿ ಬಸಚ ಕಟಾಣ ಘೇ ಮಾ ಏ ದಾದಾ ಭಾई दारू पारत से दाह को लूंगा की दे छे पास एक बात छे के राण में जरूर भी दापना आज दारू भी पीनो छे तो चोईसी बेटा बगड़ा होता का आशा आगी दारू को नाम लेता ही और सब में बड़ो छो दादू तेज जी तो कहे देखा नेवाजी सुन बात फरमाई छे

તારો આ करो સભા બિને વાજબ તારો છે आज घेरे मुआ खेड़ी ये बूंदी है गणा के हाँ भरिया मंगा दू ये शीधड़ा रमरिदा घरे मांडो निरे ये भरिया रे मंगा दू

જાઉં રે ગઢ રાણી દાદાબાઈ જાઉં ગઢ રાણી એ જબરો સુણ્યો છે નામ ફાતુડી કોર જબરો સુણેલો એ નામ દારૂ પીએ ના હે રામ દાખ કો દારૂ છે દારૂ

भविष्य बगड़ा देख बोला कि देखो हे मदाओ जय सम्मा छोटो छोटो नियो सरदार शाम पूछा को सरदार देख बोलो देखो देखो चोईसाओ अरे आज कहा दन हो गया अपन तो राण में दारू भी विवाह के वास्ते जाना पाथुड़ी कलाम ये मरदान दारू पाड़े छे दारम दा को लूंगा की दे छे पास तू तो दारू बके छे अरे मरदान मुंगा मोल को चोइस बेटा बगड़ा होता हूं आज पाथुड़ी कलाड़ के करने जा आपन जरूर भी दारू पीनो छे और राणा जी के ताई लगन जला के और आज शाम सुबह ताईं अपने मतवाड़ मारन में माना या अपनी बात सुनता बुढ़ोई बुढ़ोदा तो तेजी देख बोलो को देख लेने वा सरदार ये भीरा जी मुआ खेड़ी में मुआ गणा ये का बूंदी गणा कला अरे भया मंगा दूसरी इंदरा यहाँ घर में डो मतवा ना यहाँ पर उस गोठ में दारू पियो आपने घर में दारू पियो चाहिए हे गढ़राण में वो राणो जी हार भीरा जी नीम दे पड़िया बड़बों को सरदार छे देख तो अशोई तो आकरा पिता को पूछे और अश्विन नेवाजी थारो जी तारो पीता पीता बोलिया बोलिया हे नेवाज सरदार राण में राड़ हो जावे तो दादा भाई गजब की बात हो जावे तो नेवाजी ए बीरा जी यही मतवाण मांडा तो दादा तेज न समझाए पर नेवाजी को कोई भी समझ नहीं आई के देख रही दादा भाई ए दारू पीवा जाऊं गगड़ राण में दादा भाई तू आछो राड़ सु घबरायो जबराड़ भी हो जाओगा छह जमीना का सगराम ने सरदार जो जरूरी रण भारत में जीते बेहद जी को पर जो नहीं मान्यो तो कहीं ना कहीं घोड़ा श्रृंगार और कहीं चूस बेटा को तो राण में जावे my God. के दारू या दारू रे पियांगा ताके दारू पियांगा दाड़े दाके ये कोया में का काड़ी भवानी घेरे कोया में लाख लाख का जीण के लाख लाख करे गांधी गिरे घूरे मारावत की बोरी गोड़ी जर मारावत की दादा को कालिया हरी गोड़ रे दादाजी को कालिया

बैठा हुआ हर्द अरे देख बोलिया सवाई बोझ के सुन रहे नहीं वहां सरदार घोड़ा श्रृंगार लू मोल का धरो घोड़ा पे जीन ए वरदान चालांगा कटाण में दारू का दाड़म दाको कहाँ से मैं पे ना चोईस बेटा पकड़ाओ था पाथुड़ी कलाड़ को जबरो नाम सुन मिलो जी तुम मतवार जो उठा थोड़ी किया मारनेगा देख रहे वरदान सवाई बोझ नहीं आप आस था नीवा सरदार बूढ़ी घोड़ी श्रृंगार ले कोई यहाँ काजल काट दे मोतिया वरदा बूढ़ी घोड़ी की लाल लगा ए मर्द लाख लाख का जीण सुहला का पायड़ा मोरोहिया बना चांदी की खुर्ता घोड़ी के अणिया का और बहंदे बाजना मोरा से मधान काचा सूट में मोरा को झाल रो जो घोड़ी का गला में बांधे बड़ी छवि सुन एवं धाम पांजो बाकी रात में चलांगा बगड़ा बगड़ाउत घोड़ा का श्रृंगार कर बूढ़ी श्रृंगार दी रसिया भोज की महारावत की घोड़ी बोरड़ी दादा को कड़ियार महारावत की घोड़ी बोर एवं दादा को कड़ियार नेवा कंवर को घोड़ो नोल को तो चोईसी बेटा पकड़ा तो घोड़ा पशवार होके और कहीं न कहीं में जावे और कहीं मर्दा का भी श्रृंगार हो जावे के लड़ा हाँ तो सोरठी तरवा बहर बहुत के बागो कलई पचास को सूतन फेर ली लाल गुलाल चौबीस चौसी बेटा बकड़ा सज धज तैयार हो और घोड़ा में बैठ के और राण में जो जावा के वास्ते तैयार कर जी तो जब चौबीस बेटा घोड़ा जावे राण के मानी हाँ जो घोड़ा के देखे चामटा तो घोड़ा भरे डाना सू चाल तो कहीं देखा गरीब पलक में रान आ जावे और कहीं देखा फातुरी का महल में चौबीस बेटा बकड़ा धूम मचा दे विराजमान हो जाए घोड़ा ये चोपड़िया बाजार में घोड़ा नाचता जावे घोड़ा की गर्द उड़े लाख लाख की लूम हे मना तो घोड़ा की जो बाजार में टूटती जा रही है चुक चुगर कंगला धाप धापर खा रहा जे बोलता जावे भोर भोज की तो चोस बेटा पकड़ावत हाँ मरदा आज के चोइस बेटा पकड़ावत हाँ गढ़ राह में खूब मजा आया धूम अरे गली में घोड़ा नाश्ता फिर ये चोस बेटा पकड़ावत खूब अच्छी तरह रान की सेल करके बहुर भोजई बोला के बोले चले चौबीस आपन आज फर पर राण देख लीजिए लाखों लाखों रुपया को नुकसान बाकी चोपड़िया बाजार में हो गयो छे उर्दी का बाजार में लाखों जो कंगला अपना घोड़ा की हावती बन जाते जो चुप चुप कंगला हजारों कंगला धाग गया छे अब चाला फाथुड़ी का लाड़के में लिखे वहां राम राम फाथुड़ी का कहीं देखा महल में घोड़ा जाओ छे और कहीं फाथुड़ी सु और नेवाजी के बातचीत हो जाओ छे Come on.

ಬಾತು ಏರಿ ಮೇಲ ಕಾಟ ಏರಿ ಬಾರೆ ತೋಯು ಬಾರಾಮ ಚೋಯಶ ಬಾರೆ ತೋಯು ಬಾದೇರಿ मतवाला की हनुमान अब

बात याद सुन लेख लाई हाडा हाथी घोरे माने दे तुम भी खोयाडा तो दिखो छोरा आम जे साल मेरे कारे था कमारी दी मान पी दो का मार पा

लाल मीणा आज हाँ हाँ, थाने नाच नाच और घोड़ा की मारी मचा मचा और सेंदो मारो राई लांगनो क्यों ये का जड़ा हो गया हीरा मोती जब घोड़ा की टापा सु थाने तेसम तेस मारो राई लांगनो करना क्यों बुढ़ी के लाल का जग रे चोई सो कहाँ का सरदार छो और थे कहाँ का मजवान आया छो यहाँ हमारा महल में दारू पीवा के वास्ते जात बताओ ठाकरा और आपको नाम बताओ कहाँ का सरदार छो जब थाने पूरी रान में धूम मचा दी या फातुड़ी कलाड़ की ए वरदान पानी निवास सरदार ने सुनी जी बाल वालो हो ठेक मुछा का ए वरदान तो बाल जो फरक आ गया जी बात हो ये कहीं पूछे छे जात गणेश सरदाराओ जात बताओ जब थाने जरूर मिले दारू पुहाऊंगी हाँ थोड़ी कला लगा जगह देखो सरदार हूँ कोई बूंदी हड्डा छोक कोई भाटी जी सुमेर का छोक कोई पीलो तक कमार छोक ए मर्दा के मीणा चांदा रोन का छोक गुजर छो काली डांग का ए मर्दा कोई भीलवाड़ी का भील छोक कोई पीलो तक कमार छोक कर रूम सूम का बादशाह छोक कोई दिल्ली का पठान छोक सरदार हूँ अच्छा सरदार छो थे जल्दी सु जल्दी भाना फिर बताइए या बात सुनताएं तो कहीं देखा नहीं हो जी अब फातुड़ी सूखे छे Oh দাতা চৌধুরী আজ চৈশ ভায়া কি ছে জোর বাকি তোর চৈশ ভায়া কি

રાજા કોઈને ભાટી જેશો કા મેર કોઈને ए पीलो तक हमार कोई नहीं हर बिलवारी का भील कोई ने मीणा कोई ने चांदा रोण का गुजर कोई ने छा ए मला काली डांग का चोइस बेटा बघावत तो रंगीली गोठ में बाजा था और राजा बागजी जी का अरे पुत्र चोइस बेटा बघाओ छा देगरी पातू थारो जबरो नाव फोन मेरे छे अशी बान के सुजो में दारू की बकवास तारी दान में आया छा ए पा थोड़ी जल्दी शेर ताला खोल दे बीजर सार का दारू पिएगा चोइस बेटा बघाओ बघावत तो। हाँ था मिल गए मार तो फाफुड़ी कला या बात सुनताई गुजरा को नाव लेता ही फाफुड़ी कला जो नाराज उनकी जगह देखो जोश बेटा बगला होता हूँ घोड़ा नदी जो फंसा था कि गोट में थे दारू ए बगचे अच्छा मुंगा मोल की हीरा जी तो गुजर सो तकाई जानो दारू का स्वाद में दारू तो ये के पिए चरण को राव जी और के पिए भाटी जिसमें मेरे का है के पिलो तक कमा क्या बूंदी हटा पिए थे हीराओ ना तो खाटी राबड़ी खाओ उनका स्वाद में जानो तो थे कहीं दारू का स्वाद में जाओ ये घोड़ा ना फासा फेरते या तरीके तय श्रीनाथ निवाजी की बात हो